परम पिता परमात्मा का स्मरण समस्त जगत के स्वामी परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम विभिन्न शब्दों से पुकारते हैं अपनी अलग अलग भावना के अनुसार परमात्मा को भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न संबोधनों से पुकारते हैं विनय के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र के व्याख्यान में महर्षि दयानंद ने परमात्मा को बहुत से संबोधनों से संबोधित किया है परमात्मा को जिन संबोधनों से हम संबोधित करते हैं वो हमारे ऊपर परमात्मा के स्वरूप का ठीक ठीक प्रभाव डालने के लिए होता है जिस संबोधन से हम परमात्मा को पुकारते हैं उस शब्द में जो अर्थ परमात्मा का निहित है परमात्मा का जो स्वरूप निहित है वो स्वरूप हम अपने अंतकरण में और गहरा बैठाते हैं उस भाव को रखते हुए परमात्मा को संबोधित करते हैं तो उन विभिन्न संबोधनों में से एक संबोधन पर आज ध्यान केंद्रित करते हैं महर्षि ने लिखा हे जगदीश हे जगत के ईश जगदीश शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हम बहुत करते हैं जन सामान्य जगदीश शब्द को बोलता है परमात्मा को जगदीश मानता है जगत का मतलब ये गतिशील संसार ये पृथ्वी गति कर रही है सूर्य गति कर रहा है अन्य लोक लोकांतर और इनमें भी जो स्थित हैं जो भी प्राणी जगत गतिशील है वह सब और जो जड़ वस्तुएं स्थिर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वहां भी सतत अंदर गति हो रही है परमाणुओं में गति है परमाणुओं की परस्पर मेलजोल की क्रिया विभाजन की क्रिया चल रही है अर्थात ये सारा संसार गतिशील ही है कौन सी चीज यहां पर स्थिर है जो मकान आदि स्थिर दिखाई देते हैं उनमें भी परमाणुओं में सतत गति है जो वृक्ष स्थिर दिखाई देते हैं उसमें भी अंदर बहुत रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं भोजन जल आदि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है सतत क्रियाएं हो रही हैं तो ये जो जगत है गतिशील जगत गतिशील संसार इस सब का ईश अर्थात स्वामी अधिकारी संसार में जितनी गतियां हो रही हैं जिनमें गतियां हो रही हैं इस गतिशील संसार का स्वामी वो परमात्मा है जिस समय हम परमात्मा को जगदीश कहते हैं तो सामान्यतः एक भाव आता है कि वो कोई राजा है सबसे बड़ा है एक ये मात्र भाव है वो इस सबका स्वामी है उसी की ये सारी चीजें हैं लेकिन उसको जगदीश मानते हुए हमारे पे क्या प्रभाव आना चाहिए ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है जब हम परमात्मा को जगदीश बोलते हैं तो उससे संबंधित भाव हमारे अंदर आना चाहिए जैसे कि संसार में किसी को हम स्वामी कहें किसी घर का स्वामी किसी गांव का स्वामी किसी देश का राजा स्वामी किसी वस्तु का स्वामी जब हम किसी को स्वामी बोलते हैं तो उससे साथ जुड़ी हुई क्या बातें हमारे मन में आती हैं हम किसी के घर पर गए उस घर का स्वामी वहां पर है अब यदि उस घर में हमें जाना है रहना है कुछ करना है तो स्वामी के साथ कुछ जुड़ा हुआ रहेगा हम केवल ये मान के कि इस घर का स्वामी ये व्यक्ति है बस इतना बोल के या इतना समझ के कुछ भी वहां पर व्यवहार करें ये नहीं होता है कोई वाहन किसी व्यक्ति का है उसे हमें इधर उधर करना है या प्रयोग के लिए लेना है तो हम स्वामी से पूछते हैं उसकी अनुमति लेते हैं उसके अनुरूप चलते हैं किसी के घर में हम रह रहे हैं या किसी के वाहन में हम चल रहे हैं तो हमें सतत बोध होता है कि ये मेरा नहीं है ये इसका है और जब हम इस भाव से रहते हैं तो हमारा अलग व्यवहार होता है और जब हम अपने घर में रहते हैं जिसके प्रति हमारा भाव है कि ये मेरा है मैं इसका स्वामी हूं अब हमारा अपने घर में अलग व्यवहार होता है तो परमात्मा को जब हम हे जगदीश ये पुकारते हैं तो उसे हम स्वामी स्वीकार कर रहे हैं तो स्वामी के साथ जुड़ा हुआ भाव भी वहां पर होना चाहिए तब हम वास्तव में उसको जगदीश मानते हुए पुकार रहे हैं और तब परमात्मा को हे जगदीश कहना हमारे लिए सार्थक बहुत लाभदायक हो जाता है संसार में किसी को हम स्वामी कब मानते हैं उसके आधार पर हम परमात्मा पे घटाएं कि परमात्मा इस जगत का ईश है स्वामी है तो कैसे है वो स्वामी क्यों है वो स्वामी संसार की वस्तुओं में यदि कोई किसी वस्तु को खरीद लेता है अपनी मेहनत से उसको बना लेता है तो हम उसे उसका स्वामी कहते हैं कुछ चीजें अपनी मेहनत से कमाए धन से खरीदी जाती हैं तो भी उसका स्वामी होता है क्योंकि उसने उसका मूल्य चुकाया होता है कुछ दिया होता है तब वो उसके स्वामित्व में आता है क्या परमात्मा ने इस संसार को कुछ मूल्य चुका करके खरीदा है लोक में हम किसी वस्तु को किसी से खरीदते हैं पैसा चुका के उसके स्वामी बनते हैं घर आदि के तो हमारे से पहले कोई दूसरा व्यक्ति उसका स्वामी होता है जिसका वो मकान होता है या किसी कंपनी ने कोई वाहन बनाया है और हम उसे खरीदते हैं तो हमारे खरीदने से पहले वो स्वामी होता है क्योंकि उसने बनाया क्या परमात्मा ने इस संसार को किसी से खरीदा है इसलिए वो स्वामी है तो अन्य कोई नहीं जिससे वो खरीदता है और खरीदने की कोई बात नहीं यहां पर लेकिन लोक में कोई व्यक्ति यदि किसी चीज को बनाता है तो भी वो उसका स्वामी कहलाता है जैसे मिट्टी को लेकर के किसी ने घर बना लिया मिट्टी थी पहले से और उसको अपना पुरुषार्थ करके बना लिया तो अब न खरीदा हुआ होते हुए भी वो उसका स्वामी होता है स्वामी कहलाता है ये मूल प्रकृति पहले से सदा विद्यमान है नित्य है परमात्मा ने मूल प्रकृति को बनाया नहीं है इसलिए मूल प्रकृति को वो बनाए इसलिए वो स्वामी हो हम नहीं कह सकते इसलिए मूल प्रकृति पर उसका स्वामित्व तो बनाने के कारण से नहीं है और न उसने उसे खरीदा है जीवात्माएं भी परमात्मा की तरह से नित्य हैं परमात्मा ने आत्माओं को बनाया नहीं है और न किसी से खरीदा है इसलिए इस दृष्टि से भी परमात्मा जीवात्माओं का स्वामी नहीं है लेकिन परमात्मा ने मूल प्रकृति जो कि नित्य है उसको लेकर के कार्य जगत को बनाया इस संसार को जगत को बनाया इस बनाने के कारण से परमात्मा इसका स्वामी है जैसे कुछ बच्चे समुद्र के किनारे खेलने जाएं, समुद्र की मिट्टी में खेलते हुए कोई घर बना ले कोई बंगला बना ले कुछ खेत खलिहान बना ले वो जमीन पड़ी थी वैसे ही समुद्र का किनारा है किसी की संपत्ति नहीं जो बच्चा जहां गया वहां जाके उसने जो बनाया अब वो उसका है अब दूसरा बच्चा उसको नष्ट नहीं कर सकता नष्ट करेगा तो विवाद होगा जिसने जहां जो बनाया उसका वो स्वामी है उस समय के लिए तो इस मूल प्रकृति को लेकर के कार्य जगत को परमात्मा ने बनाया है हम जीवात्माओं की तो ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम इसे बना दें इसलिए समस्त का स्वामी ईश इस समस्त जगत का स्वामी वो ईश अकेला परमात्मा है तो परमात्मा का स्वामित्व परमात्मा का ईशपना क्यों है ये हमारे मन में अवश्य रहना चाहिए परमात्मा क्यों जगदीश है कैसे वो जगदीश बन गया नहीं तो कोई भी नास्तिक व्यक्ति ऐसे बोलते हैं परमात्मा ने अपना अधिकार कैसे जमा लिया इसमें वो कौन होता है अधिकार जमाने वाला परमात्मा का स्वामित्व है क्योंकि उसने बनाया इसको अब उस बनाए हुए संसार में हम रह रहे हैं हम अपने द्वारा बनाए हुए घर को अपना समझते हैं वस्त्रों को भोजन को और उसके स्वामी कहलाते हैं लेकिन ये सारा का सारा हम कर कहां रहे हैं ये सारा का सारा हम उस परमात्मा के घर में कर रहे हैं उसके द्वारा जो चीज दी गई है इस समस्त जगत का जो स्वामी है उस स्वामी के घर में रह करके हम ये सब करते हैं हमारा स्वामित्व उतना ही बनता है जितना कि हमने बनाया है और वो स्वामित्व भी अन्य मनुष्यों की अपेक्षा से है किसी व्यक्ति ने अपना ये खेत तैयार किया बगीचा तैयार किया दूसरे ने ये पेड़ उगाया व्यवहार के लिए वो स्वामित्व रहेगा अन्य मनुष्यों की अपेक्षा से लेकिन व्यवहार करते करते मैं मेरे का व्यवहार हमारा चलता है और वो आवश्यक भी है लेकिन उसके चलते चलते हमारे मन में ये भाव बन जाता है कि जैसे मैं ही इसका सब कुछ हूं मैंने ही किया है दूसरे का क्या है इसके अंदर और परमात्मा वहां विस्मृत हो जाता है परमात्मा को स्वामी मानते हुए भी हम व्यवहार में उन वस्तुओं को अपना इस तरह समझने लगते हैं जैसे कि और कोई इसका स्वामी नहीं है ये तो परमात्मा की कृपा है कि उसने हमें ऐसे साधन दिए और इन वस्तुओं को प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी दी ये भी परमात्मा की कृपा है तो जो व्यक्ति परमात्मा को जगदीश मानता है हे जगदीश करके उसको पुकारता है और वो अर्थ भाव भी मन में रखता है तो उसको सबसे पहले क्या ध्यान आएगा कि इस जगत का जो ईश है जिसके बनाए जगत में मैं रह रहा हूं जिस स्वामी के घर में मैं रह रहा हूं इस घर में मुझे कैसे रहना है ये घर मेरा नहीं है मुझे इस घर में रहना कैसे है तो जैसे संसार में हम मालिक के अनुसार रहते हैं उसकी अनुकूलता से रहते हैं हम सदा ये ध्यान रखते हैं कि मेरा कोई उठना बैठना ऐसा ना हो जो मालिक के विपरीत जाए तो साधक व्यक्ति जब ये मानता है कि हे जगदीश तो उसके मन में भाव होना चाहिए कि ये उसका है और उसके अनुसार मुझे इस जगत में रहना है अब बस यदि ये एक निर्णय हो जाए तो सारी दिशा बदल गई जीवन की अब जहां जहां वो अपनी स्वतंत्रता से कार्य करेगा गलत कार्य करेगा गलत कार्य करने की इच्छा होगी तो तत्काल स्वामी ध्यान में आएगा नहीं इसका स्वामी परमात्मा है और जैसे लोक में हम किसी दूसरे के घर में जबरदस्ती नहीं कर सकते कुछ अन्यथा करेंगे तो वो हटाएगा वहां से ऐसे ही इस परमात्मा के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते संसार के किसी स्वामी से अधिक बल रखने के कारण हम कभी कुछ अन्याय अत्याचार कर दें स्वामी को भी निकाल दें और स्वयं कब्जा कर लें लेकिन इस संसार में हम ऐसा कर नहीं सकते परमात्मा के जगत में परमात्मा के साथ ऐसा हम कभी नहीं कर सकते ये भाव व्यक्ति के मन में रहता है और जगदीश है तो केवल एक जगदीश है दो नहीं है इसलिए पूरी तरह उसी के आदेश के अनुसार उसी को दृष्टि में रखते हुए उसी को केंद्र में रखते हुए वो अपने व्यवहार करेगा और ये एक साधक के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है एक सामान्य व्यक्ति जो परमात्मा को विस्मृत करके अपने स्वामित्व के अनुसार चल रहा है और एक परमात्मा के अनुसार चल रहा है जीवन बदल जाएगा जो व्यक्ति परमात्मा को स्वामी नहीं मानते वे भी इस संसार में रहते हुए बहुत से नियमों का पालन करते हैं परिवार का नियम उस नगर ग्राम का उस देश या राष्ट्र का भी कुछ नियम होता है और उसके अनुसार चलते हुए वो अपना जीवन ठीक ठाक चला लेते हैं जिस इलाके में रहते हैं वहां जिसका स्वामित्व हो जिसका दबदबा हो उसके अनुसार चल के अनुकूलता बनाता है और चलता रहता है साधक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति भी इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि जिस परिवार में मैं रह रहा हूं जिस परिवार का मैं अंश हूं अंग हूं उसके अनुरूप चलो अन्यों की अनुकूलता बना के चलो इसी तरह नगर और देश की भी लेकिन उसके साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि इन सब का भी स्वामी वो परमात्मा है इन सब से ऊपर भी एक स्वामी है इन सब का भी स्वामी कोई है दो स्थितियों में अंतर होगा जब हम किसी लौकिक व्यक्ति को स्वामी मानते हैं उससे अभिभूत हैं हम उसके अनुकूल चलने में ही हमें अपना हित दिखाई दे रहा है हम चलते रहते हैं और और किसी का हमें ध्यान नहीं है गांवों में कितने व्यक्ति होते हैं जो दबाव में रहते हैं बंधुआ मजदूर हैं और वहां कोई बलवान शासक दबंग व्यक्ति है अब वो ये समझता है कि इनके अनुसार चलना ही मेरे लिए ठीक है क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकता है और उस स्थिति में बहुत से गलत कार्य भी जो समझता है कि गलत है ठीक नहीं है वो करता रहता है लेकिन जो थोड़ा अधिक समझता है वो सोचता है नहीं राज्य का भी शासन है राज्य का भी कुछ नियम है कानून है न्यायालय है उस नियम के अनुसार मैं चलूंगा क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये भी उस नियम के अंतर्गत है अब वो गलत बात को नहीं करेगा सोचेगा कि अगर मैं इस व्यक्ति के अनुकूल चलता हूं ये मुझे चोरी करने का कहता है ये कहता है कि फला व्यक्ति को पीट दो डंडे से मार दो और मैं कर लेता हूं तो पुलिस आएगी कानून काम करेगा मेरे को भी पकड़ सकता है और इसको भी पकड़ सकते हैं अब उसकी दृष्टि बदल जाएगी क्योंकि उसे पता है इससे बड़ा भी कोई है ये भी किसी के अधीन है तो गलत कार्य से अपने को बचाएगा लेकिन इस संसार में रहते हुए जब परमात्मा हमारे से विस्मृत हो जाता है तो हम देश के कानून या अपने समाज के कानून के अनुसार ही चलते रहते हैं उन्हीं को अपना स्वामी मानते हैं उसके अतिरिक्त और कुछ करने का हम सोचते नहीं और गलत होते हुए भी हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही मुझे करना है और कुछ मैं कर ही नहीं सकता इस स्थिति में हम परमात्मा को जगदीश नहीं मान रहे होते हैं भूल जाते हैं उसको जो परमात्मा को जगदीश मानता है उसकी दृष्टि में तो वही सर्वोपरि होगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबसे अंतिम माना जाता है सबसे बड़े राजा का निर्देश सबसे बड़ा माना जाता है और बस सब उसी के अनुसार चलें तो सब ठीक है और किसी से विरोध हो तो हो तो परमात्मा को जब हम जगदीश कहते हैं ये बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती हैं आनी चाहिए अब ये स्वामित्व तो, हमने दूसरों की दृष्टि से सोचा दूसरे हमारे पे शासन करते हैं हम उनको स्वामी मानते हैं उतने उतने अंशों में स्वामी होते भी हैं अब इसको दूसरे ढंग से देखिए हम भी तो किसी के स्वामी हैं हम भी तो किसी के नियंत्रक हैं परिवार में हो सकते हैं किसी पद पे हो सकते हैं अधिकारी हो सकते हैं वहां हम भी दूसरों का शासन करते हैं दूसरे हमें अपना स्वामी समझते हैं और उस स्थिति में हम अपने आप को ही पूरा स्वामी जब समझने लग जाते हैं तो ये यहां फिर गलतियां होने लगती हैं हम भी एक सीमा तक स्वामी हैं क्योंकि हम माता हैं या पिता हैं तो बच्चों का कुछ पालन पोषण कर रहे हैं हमने भी मेहनत करके घर बनाया उतने अंश में हम स्वामी हैं लेकिन इस आधार पर यदि हम ये अधिकार ले लें कि बच्चे को जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही करवाऊंगा मेरे अधीन जो सेवक हैं नौकर हैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही वो करें ये मन में बैठा लेना क्योंकि मैं इनका स्वामी हूं क्योंकि मैं इनको खाने को दे रहा हूं क्योंकि मैं इनको वेतन दे रहा हूं क्योंकि मैंने इनको रहने के लिए जगह दे रखी है एक स्वामित्व का भाव मन में स्वभावता आता है लेकिन जब साधक स्वयं स्वामी के रूप में होता है और तब भी उसे यह पता है कि जगदीश तो कोई और है और परमात्मा ही मेरा स्वामी है अब वो जब दूसरों पर शासन भी करेगा तो परमात्मा के निर्देश के अनुसार करेगा अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर ले ये भाव उसमें कभी नहीं आएगा जैसे कि एक छोटा अधिकारी जिले का अधिकारी अधिकार रखता है जिलाधीश के पास अधिकार है वो पूरे जिले का स्वामी है एक तरह से लेकिन वो काम सारा करेगा कानून के अनुसार ऊपर राज्य शासन के अनुसार वो अपना स्वामित्व तो मान करके यदि करने लग जाएगा तो वहीं गलतियां होने लगेंगी तो जब हम अपने बच्चों को भी जिनको हमने उत्पन्न किया है बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है और ये भाव रखें कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही आपको करना है बच्चा भले ही ठीक हो और माता पिता भले ही गलत हो समाज में ये ठीक है कि माता पिता की बात मानी जानी चाहिए माता पिता बड़े होते हैं पूज्य होते हैं और समाज में इतना अधिक इसको बढ़ा दिया गया है कि माता पिता ही परमात्मा है वही सब कुछ है उन्हीं के चरणों में भगवान है इसलिए वो जो भी कहते हैं वो हमें करना है और माता पिता के मन में भी बैठ जाता है कि हमारा अधिकार है हमारी हर बात को बच्चे को मानना चाहिए नहीं तो ये बच्चा ठीक नहीं है पितृभक्त नहीं है मातृभक्त नहीं है अधार्मिक है ये भाव माता पिता में या बुजुर्गों में दादा दादी में क्यों आ जाता है क्योंकि वो उस जगदीश को भूल जाते हैं माता पिता का दादा दादी का अधिकार है उतना ही है जब तक वो परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप बच्चों से कुछ करवाते हैं और बच्चों को भी ऐसे माता पिता की किसी बात मानने का कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें माने ये कोई आदर्श नहीं है भारतीय संस्कृति का ये आदर्श नहीं कि माता पिता कुछ भी कहे और हम मान लें ईश्वर के विपरीत कहे वो भी हम माने तो जो स्वामी के पद पर हैं कितने भी छोटे स्वामी हो और किसी के नहीं तो इस शरीर के स्वामी इस शरीर के स्वामी तो हम सब हैं हर आत्मा अपने शरीर का स्वामी है इंद्रियों का स्वामी है मन का स्वामी है क्योंकि ये जड़ है और ये साधन है और परमात्मा ने हमारे अपने लिए हर आत्मा के लिए दिए हैं कि इन साधनों से तू उन्नति कर लेकिन इस रूप में भी स्वामी होते हुए साधक को यह सोचना होता है कि जगदीश तो फिर भी है उसने ये दिया है तो किस लिए दिया है और मैं इसका स्वामी हूं तो किस हद तक स्वामी हूं मैं इसमें खरबों कोशिकाएं हैं उनका नियंत्रण मैं कर रहा हूं क्या ये खरबों कोशिकाएं आपस में मिलजुल करके कार्य कर रही हैं मेरे लिए अनुकूलताएं पैदा कर रही हैं मैं क्या कर रहा हूं इसमें मैं आंख से देख रहा हूं हाथ से कार्य कर रहा हूं जब इच्छा होती है तब हाथ को चला लेता हूं जब इच्छा होती है आंख से देख लेता हूं लेकिन ये आंख देखने की स्थिति में बनी रहे इसमें मैं क्या कर रहा हूं केवल सुबह उठ के आंख साफ कर लेता हूं कुछ भोजन खा लेता हूं उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं कुछ व्यायाम कर लेता हूं बाकी ये सारी व्यवस्था तो मैं नहीं कर रहा हूं मेरा स्वामित्व है कितना तो जब इस शरीर का भी हम उपयोग करें तो हे जगदीश ये जो हम परमात्मा को संबोधन करते हैं ये अगर साथ में रहे ये अर्थ की भावना रहे तो हम अलग ढंग से इस शरीर का उपयोग करेंगे कि जिस ईश ने जिस जगदीश ने इस शरीर को दिया है वो किस लिए दिया है किस प्रयोजन से दिया है और इस सारे संसार को भी किस प्रयोजन से दिया है उसको वो ध्यान में रखे और उसके अनुरूप चलने में ही अपनी हित की भावना रखेगा और उसके विपरीत चलने में अपना अहित समझेगा क्योंकि जिसने इसको बनाया है वो ही जानता है ठीक तरह कि ये किस लिए बनाया है और इसका कैसे उपयोग करना है तो परमात्मा को जब हम संबोधित करते हैं हे जगदीश ये शब्द बड़ा सरल लगता है हमें बहुत प्रचलित है हम बोलते रहते हैं लेकिन इसका अर्थ इसकी भावना बहुत गहरी है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत व्यापक हो सकता है तो मन में परमात्मा को जगदीश स्वीकार करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ